इसलिए गीता में तो सत शब्द के लिए एक ही सत शब्द है जिसके लिए एक डिक्शनरी एक खजान खजाना सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मण तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते जब आप प्यासे को एक गिलास पानी पिलाते हैं तब आप सत्संग करते हैं जब आप एक भूखे पशु को हरा हरा चारा डालते हैं तब सत्संग करते हैं एक पक्षी भूखा है उसको आप ताना देते हैं उसका नाम सत्संग होता है सबको भला समझना और सब में भगवान को समझना और सब में भगवान को देखना इसका नाम सत्संग होता है ये जो लोक ये भी कोई मैं समझता हूँ पचास साठ वर्ष के भीतर ही व्याख्यान सुनने का नाम सत्संग करना हो गया है सत्संग करना माने व्याख्यान सुनना नहीं सत्संग माने अपना जीवन सुधारना इसलिए आप आंख बंद करके चाहे खुली आंख से घंटे आध घंटे एकांत में बैठ करके ये सोचिए कि हमारा जीवन सुधर रहा है कि नहीं यदि आपका जीवन सुधर रहा है उसमें अच्छे अच्छे सदगुण आ रहे हैं वीरता आ रही है सत्य बोल रहे हैं किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं दूसरों को खिलाते हैं खिलाते हैं तब आप सत्संग करते हैं सत्संग माने जीवन होता है सत्संग माने ये दिखाऊपना बाजारूपना नहीं होता है इसलिए सावधान होकर सत्संग करना चाहिए तो जब मिल जाए संग परमात्मा तब मत करना और जब तक जबानी जबान जबानी जबान पर असंग है परमात्मा तब तक तो उसका संग करना ही पड़ेगा हमारा परमात्मा जो असंग है वो हमारे लिए है तुम्हारे लिए नहीं वो हमारा प्राइवेट परमात्मा आत्मनिष्ठा और आत्म सम्मोहन का अभिप्राय क्या है आजकल के जो बाबू लोग भौतिक दृष्टि से विचार करते हैं और देखते हैं जो अपने को सबसे बड़ा समझता है सबसे बड़बड़ सबसे बड़ा बुद्धिमान और सबसे बड़ा धनी सबसे बड़ा ज्ञानी हमारे बराबर और कोई नहीं तो जादू से जैसे दूसरे लोग मोहित हो जाते हैं ना जादू का खेलते हैं तो दूसरे का जादू का था खेल देखकर मोहित होना वो दूसरी चीज है और अपने अपने ही जादू में भूल जाना कि हम बहुत बड़े हैं कौन होता है हमारे बराबर न गुरु है न शास्त्र है हम जैसा सोचते हैं वैसे ही ठीक है तो वो आत्मसमोहित अपने आप से अपने आप पर हिप्नोटाइज हो गया है वो दूसरे की अच्छाई को देख नहीं पाता और आत्मनिष्ठा का अर्थ ये होता है कि शरीर में हड्डी मांस शाम का पुतला है जो हिल रहा है ये क्या है ये तो देह है अच्छा इसमें जो हिलाना है वो क्रिया है वो तो वो तो प्राणमय कोष है हाथ का होना अन्नमय कोष है और इसका हिलना ये प्राणमय कोष है और इच्छा होना कि ये काम करें ये मनोमय कोष है और ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये निश्चय होना ये विज्ञानमय कोष है और फिर आनंद में अपने निश्चय के अनुसार काम करके रहना और उसमें आनंद में डूब जाना ये आनंदमय कोष है और उसके भी परे आनंद और आनंद इन सब से छुट्टी पा लेना इसका नाम आत्मनिष्ठा होता है आत्मनिष्ठा महात्माओं की होती है और आत्म सम्मोहन संसारियों का होता है अपनी सुंदरता पर बहुत मोहित है हमने देखा एक हमारे साथी थे जूसी में रहते थे बड़े लंबे तगड़े थे और देखने में बड़े सुंदर थे दक्षिण के ब्राह्मण केरल के ब्राह्मण जो काले काले होते हैं वो दूसरे होते हैं और जो गोरे गोरे होते हैं बड़े सुंदर क्या पूछना उनका रूप दूसरा होता है तो वे जो हमारे साथी थे वे गायत्री का जप करते थे 24 लाख गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं तो बीच बीच में वे शीशा निकाल के देख लेते थे कि मेरे मुंह पर कितनी चमक बढ़ी क्योंकि गायत्री का जप करने से मुंह पर एक प्रकार का तेज बढ़ता है तो जो ये शरीर का ही तेज देखने में लगे हुए हैं वे आत्मनिष्ठ नहीं है वे तो आत्म सम्मोहित है अपने आप हमारे जैसी स्त्री किसी के नहीं हमारे जैसी नाक किसी के नहीं हमारे जैसी आंख किसी के नहीं हमारी जैसी विद्या बुद्धि किसी के नहीं अपने बड़प्पन में जो फंस गए वे आत्म सम्मोहित हो गए बाबू तुम जादू में अपने जादू में फंस गए हो जिस दिन लोग बाल बनाते हैं या बनवाते हैं और चिकना चुपड़ा तेल फुलेल पाउडर लगा लेते हैं उस दिन बार बार अपने बालों पर हाथ फेरने में मजा आता है अपनी चिकनाई से अपने आप वे बेहुदा बन गए हैं वे दूसरे को देख नहीं पाएंगे उनको तो अपने सामने और कोई दूसरा मालूम नहीं पड़ेगा इसी का नाम आत्मसम्मोहन होता है अपने आप पर ही में स्मराइज हो जाना अपने आप पर ही एक प्रकार हो जाना और दूसरे की जो श्रेष्ठता है बड़प्पन है उसको न देख पाना तो न देख पाना दूसरे का बड़प्पन ही आत्मसम्मान है और अपनी अपनी श्रेष्ठता को देखना और सो भी देह की नहीं अपने मन में देखो ना कितनी सुंदरता है कितना सद्भाव आता है और दूसरे को खिलावे पिलावें आदर करें आपके दरवाजे पर कोई अनजान आदमी भी आ जाए तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं आप दोनों हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं उसको देखकर मुस्कुराते हैं कि नहीं जैसे अपने घर में कोई बहुत प्यारा आ गया हो ऐसा समझते हैं कि नहीं तो असल में अपने जीवन का उच्च कोटि का निर्माण इसका नाम तो आत्मनिष्ठा है और अपने को ही सबसे ऊंचा समझना इसका नाम आत्मसम्मान है तो वृत्ति किसे कहते हैं अंतकरण कहाँ है आपका जो बर्ताव है वही वृत्ति है वृत्ति माने बर्तना बर्ताव करना तो आपकी वृत्ति कैसी है प्रिय प्राय वृत्ति सबको प्रिय लगे ऐसे ढंग से रहिए कि आपकी रहनी किसी की आंख में खटके नहीं बहुत अच्छे ढंग से रहिए प्रिय प्राय वृत्ति जीविका धन ऐसे कमाइए कि किसी को तकलीफ न पहुंचे भोजन ऐसा कीजिए कि अन्न खराब न हो अपने पशु को ऐसा प्यार कीजिए कि वो आपके प्यार से तृप्त रहे तो हमेशा सद्भाव अपने चित्त में बना रहे तो इसी को क्या पूछा था वृत्ति वृत्ति वृत्ति आप बरतते कैसे हैं आपका दिल हमेशा अच्छा रहे और आप लोगों से हमेशा अच्छा बर्ताव करें और अच्छे ढंग से बोले और लोगों की भलाई करें जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करते जाएं। इसको वृत्ति बोलते हैं प्रिय प्राय वृत्ति सबसे प्रेम कीजिए हर जगह सबसे विनय से बड़ी मथुर मधुरता से मिठास से मिली अपनी वाणी को काबू में रखिए सोच सोच के जो बोलना चाहिए सो बोलिए और जो न बोलना चाहिए सो मत बोलिए और सबका भला चाहिए और अच्छे लोगों में अपनी जान पहचान रखनी चाहिए और दो दिन प्रेम किया और दो दिन दुश्मनी की ऐसा नहीं पूर्व व पश्चात व चाहे आज हो और चाहे कल सदा रस एक तरीका बना रहना चाहिए गरीबी में मिलो अमीरी अमीरी में मिलो विद्वत्ता में मिलो और क्या नाम है खुशी में मिलो नाराजगी में मिलो एक तरफ ये नहीं कि जब गरीब थे जब तो उपेक्षा करते थे अब वही वही हो गए तो बहुत सुख से इनके साथ बर्ताव करना चाहिए ऐसा नहीं अपना बर्ताव हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए ये वृत्ति का अर्थ ये होता है वृत्ति माने बर्तना बर्ताव करना आप दूसरों के साथ क्या समझकर बर्ताव करते हैं हड्डी मान शाम का पुतला समझते हैं दुश्मन समझते हैं दुष्ट समझते हैं भगवान का भक्त समझते हैं जीव समझते हैं उसके भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है क्या उसको देखते हैं आप अपना वृत्ति माने बर्तना इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में सूत रखा हुआ है रुई रुई के रेसे रखे हुए हैं सूत रखा हुआ है अब उसकी आपने बत्ती बनाई बत्ती बनाने को वृत्ति कहते हैं जो आपकी चित्त वृत्ति बिखरी हुई है इधर उधर रेसे पड़े हुए हैं इधर उधर सूख पड़े हुए हैं उन सब को जोड़ तोड़ कर बिल्कुल एक में मिला देना दूसरे के दिल को दिल से मिला लेना इसका नाम वृत्ति है और ये वेदांति वाली जो वृत्ति है वो घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति वो दूसरी है उसके लिए तो सीखना पड़ता है तो प्रश्न का वेदांति कहता है अंतकरण कहाँ रहते हैं यह प्रश्न है इसके साथ अंतकरण देखो चांद के भीतर खून है उसके भीतर हड्डी है हड्डी के भीतर शक्ति है चलने फिरने वाली उससे भी भीतर एक विज्ञान है चेतना है तो अंतकरण क्या है ये जो हमारा जीवन है साढ़े तीन हाथ का शरीर है इसके भीतर रहकर इसको इसको ठीक ठीक संचालित करना कायदे के अनुसार मर्यादा के अनुसार चलावे तब तो वो अच्छा अंतकरण है और यदि वो मनमाना चाहे जो चाहे सो खा लिया जो चाहे सो पी लिया चाहे जहाँ बैठ गए चाहे जिससे मिल गए संभाल के अपने जीवन को संभाल के रखना एक बात आपको बताऊं बहुत लोगों से परिचय नहीं करना चाहिए न अच्छों से न बुरों से क्यों कि आखिर में बुढ़ापे में जब आपको ईश्वर का स्मरण करना होगा जब रोग आएंगे जब मृत्यु आएगी तो यही सब याद आएंगे आजकल का जो बचपन का खेल मेल है और आजकल का जो बुढ़ा जवानी है और इसमें जो अच्छाई बुराई होती है इसके संस्कार अंतकरण में रखे रहते हैं और वे बुढ़ापे में जब रुकने की शक्ति नहीं रहती है ये बात आवे ये बात ना आवे तब वे सब बातें पुनः पुनः याद आती हैं और मनुष्य संसार के चक्कर में फंसा रह जाता है इसलिए बाल्यावस्था से ही कौमारे आचरित धर्मान कुमार अवस्था से ही मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापे में क्या याद करते हुए हमको बीमार पड़ना होगा क्या याद करते हुए हमको रोना रोकना पड़ेगा रोना पड़ेगा क्या याद करके हमको हंसना पड़ेगा यदि बुढ़ापे का जीवन आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो बचपन और जवानी का जीवन अच्छा बनाए यही अंतकरण है आप अपने भीतर ऐसी ऐसी चीज इकट्ठी कीजिए जैसे पहले से बीमा करा के रखते हैं हीरा मोती इकट्ठा करके रखते हैं ये हमारे बुढ़ापे में काम आएगा इसी प्रकार आप अच्छे अच्छे भाव अपने जीवन में इकट्ठे करके रखिए और वो आपको मरते समय काम आवेगा परलोक में काम आवेगा स्वर्ग में काम आवेगा ये अंतकरण ही है जो आपको अंतकरण में आपका जो वैकुंठ में आपका साथ देगा स्वर्ग में आपका साथ देगा इसी को बनाए रखिए रक्षत रक्षत हृदय जस्मिन सुरक्षित सर्वम सुरक्षितम सात बचाइए बचाइए अपने दिल को बचा लीजिए अगर आपका दिल बचा रहेगा अच्छा रहेगा आपके बस में रहेगा तो सब कुछ बचा रहेगा इसलिए अंतकरण वो चीज है अंतकरण आपका वो कि वो संदूक है वो खजाना है वो पिटारी है आपकी जिसमें आप इस लोक के लिए और परलोक के लिए अच्छी से अच्छी चीज इकट्ठी करके रखते रहें और वो काम आता रहे और यदि इसका ख्याल अभी से नहीं रखेंगे तो आगे चल करके ये बहुत तकलीफ देगा इसलिए अंत अंत माने भीतर करण माने करना बाहर की वस्तु को भीतर जहाँ रखा जाता है उसका नाम अंतकरण होता है मेरे मन में शांति नहीं है आदमी से भी कम पड़ती है गृहस्थी में मुझे कैसे रहना चाहिए मुझे भगवान के दर्शन जल्दी कैसे होगी ऐसा बताओ आपके मन में इच्छाएं भी रहे शांति भी रहे भगवान के दर्शन भी हों ये सब कोई सीखने की बात कर तो रहे आप सब इच्छाओं को छोड़ दीजिए एक बात भगवान के दर्शन की इच्छा रखिए जब आपको मालूम पड़े कि अब भगवान के दर्शन के बिना मैं नहीं रह सकता अब तो बस भगवान का दर्शन है या तो मृत्यु है पानी में मत कूदिए जहर मत खाते पेड़ पर मत चढ़िए तलवार मत मारिए कृतज्ञता होनी चाहिए मन में जैसी भगवत प्राप्ति के लिए आपके मन में कितनी व्याकुलता है पहले इच्छाओं को ही गिन लीजिए कब

हाँ। आप अपने मन में कितनी इच्छा है उसको गिन लीजिए जितनी कम से कम इच्छा होगी आपके मन में उतनी जल्दी भगवान आपको मिलेगा भगवान के लिए आपकी आंख में आंसू आते हैं बच्चा स्कूल से नहीं लौटा तो आंसू आते हैं खाया नहीं तो आंसू आते बुखार आ गया तो आंसू आते एक क्षण के लिए बच्चे के लिए आप व्याकुल हैं बताइए भगवान के लिए कितने आंसू आते हैं कितने व्याप्त आपके प्राण कभी गले में आकर लगते हैं आपका दिल कभी महसूस नहीं लगता है भगवान भगवान के बिना आपकी भूख प्यास कभी भूल जाए आप स्वयं सोचिए कि भगवान के लिए आप कितने व्याकुल रहते हैं हमारे जीवन में कब आएगा जब हमें भगवान के अपने व्याकुलता को देखिए जितनी गहरी होगी उतनी जल्दी भगवान के दर्शन होंगे महाराज जी किसी से सेवा लेनी ना पड़े और जीवन के आखिरी क्षण तक ये शरीर दूसरों के सेवा में लगा रहे इसके लिए क्या उपाय है बताने की कभी कभी तो दूसरों से सेवा लेना उसकी सेवा करना होता कोई आदमी तुम्हें पानी पिलाने के लिए आदर से बैठाने के लिए प्रणाम करने के लिए व्याकुल हो रहा वो कह रहा है कि हम आपका पांव छुए बिना खाएंगे तो आप छू लेने दीजिए पारस का पांव को काल एक बार छू लेता है तो क्या है सेवा करने से ही सेवा नहीं होती है सेवा लेने से भी सेवा होती है आप ध्यान से देखिए सामने वाले को सुख कैसे पहुंचता है सामने वाले की अनुकूलता हो सबसे बड़ी सेवा है कि किसी को भगवान की याद आने लग जाए घंटा बजा के आवे नाम का कीर्तन करके आवे चिल्ला के आवे पत्थर की पूजा करके आवे पेड़ पौधे की पूजा करके आवे ब्राह्मण की पूजा करके आवे माँ की बाप की गुरु की परमहंस रामकृष्ण तो अपनी पत्नी की पूजा करते थे साक्षात जगत जगदम्बा अब आप कुछ सेवा कोई बिहारी जी का दर्शन करने गए और एक पैसा जोर से फेंका बाहर से जाके उनकी आंख में लग गए और माला बाजार में से खरीदी और उसमें सैकड़ों चीटियां घूम रही हैं और आग्रह किया कि कोई गले में पहना ले कहीं से कैसी शुद्ध अशुद्ध चीज खरीद के ले आए और कहा कि बस्ती तो भगवान को भोग लगा दो तुम्हें भोग लगाना है तो बर्तन मांजो अपने हाथ से जल खींच के ले आओ पवित्र स्नान करो आनंद से खूब पवित्रता के साथ अमनिया सामान तैयार करके अपनी ईमानदारी की कमाई से एक रोटी भगवान को भोजन लगा दो सेवा हो जाती है अच्छा, उसका माता जी का एक प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया उसको वो कहती है अब मैं जा रही सेवा प्रेम में से निकलती है सेवा बनावट में से नहीं करती हजार मन चावल का भोग श्री नाथ जी को लगेगा और हजारों मन चावल का भोग जगन्नाथपुरी में लगे लेकिन चावल साफ न किया जाए प्रेम से पकाया न जाए कच्चा रह जाए कई बार ऐसे चावल मिलता है जो कच्चे ही कच्चा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सेवा में एक एक सज्जन है यहाँ उनका कहना था भगवान रोज हमारे घर में भोग लगाते आते हैं भोजन करने के लिए अपने हाथ से खाते हैं एक दिन प्रसाद पाने के लिए हमको भी बुलाया अपने घर मैं प्रसाद पाने के लिए गया सब बढ़िया बात तैयार हुआ आज ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि कड़ी भाग ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार तो हरी बात बनी जब मैं प्रसाद पाने के लिए बैठा तो चावल तो कच्चे थे और कढ़ी में नमक ही नहीं था मैंने कहा बाबा तुम्हारे भगवान अच्छा मजाक मेरे साथ ऐसे ही प्रसाद कमाना काम तो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कितनी बार पांव धोना चाहिए कितनी बार हाथ धोना चाहिए कितने प्रेम से सामान को अमनिया करना चाहिए सब इस गुरु के पास रह के गोबर पाथना भी सीखना पड़ता है रसोई बनाना भी सीखना पड़ता है ये नहीं कि उधर अशुद्ध भाव अशुद्ध चरित्र अशुद्ध वस्तु और भोग लगाते जा रहे हैं तो भगवान की सेवा हो रही है भगवान की सेवा तब होती है जब अपने सामने आने वाले सभी प्राणियों के प्रति भगवान का भाव हो जाता है इसके रूप में आज हमारे घर में भगवान आ रहे हैं तब देखो क्या आनंद आता है गंदा से गंदा आदमी हो अच्छा कपड़ा न पहने हो बहुत सुंदर न हो बहुत अच्छे कपड़े न हो आके ऐसे ही घर में बैठ जाए और आप उसको भोजन कराना क्या आनंद आता है एक सेठ था उसने जीवन लिया था कि हम प्रतिदिन एक महात्मा को भोजन करा के तब भोजन करेंगे बहुत दिन ये नियम चला एक दिन क्या हुआ दोपहर के समय जरा देर हो गई कोई महात्मा नहीं मिला कहीं से ढूंढ ढाड़ के एक सज्जन लाए गए से तो बड़े लंबे टुकड़े हाथ में डंटा भी कपड़े भी अच्छे हाँ महाराज आप साक्षात भगवान हो भोजन करो जब थाली लगाई गई तो उन्होंने भगवान को भोग नहीं लगाया ऐसे ही भोजन थाली में हाथ डाल के दाल चावल पेट में मिलाना सारना शुरू कर दिया शेष ने पूछा अरे महाराज जी क्या करते हो आपने तो भगवान को भोग नहीं निकाला पंचग्रास नहीं निकाली और प्राहुति नहीं दी और खाना शुरू करने जा रहे हैं वो आदमी बोला कि भाई हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं हमने तो जिंदगी में कभी ईश्वर को माना नहीं तो हम भोग किसको लगाए राम राम आज हमारा दुर्भाग्य जो जो आप जैसा नास्तिक मेरे घर में खाने के लिए आए कृपा करो मेरे ऊपर का अच्छा थाली छोड़ के उठ के खड़ा हो गया अब महाराज आकाशवाणी हुई सेठ इस आदमी की उम्र कितनी होगी तो सत्तर बरस तो अच्छा ये मोटा तगड़ा है कि नहीं तो है इसको रोज भोजन मैंने दिया है कि नहीं दिया है तब तो दिया है देखो मैंने अपने जिस बच्चे को सत्तर बरस तक बढ़िया भोजन करा के और इतना तगड़ा रखा स्वस्थ रखा उसको एक दिन के लिए भोजन देने में तुमको इतनी इतना संकोच आता है इतनी शर्म आती है कितनी विडम्बना है तो भगवान तो सब है चीटी को जो हम दाना देते हैं उसमें भी भगवान है कबूतर को जो चना डालते हैं वो भी भगवान है सब में भगवान की बुद्धि रहकर दिन भर में कम से कम दो गिलास पानी किसी को पिलाना दो बात मीठी बोलना आपके घर में कोई अनजान आदमी आवे तब भी उठ के खड़े हो जाना उसको हाथ जोड़ लेना उसके भीतर बैठ के भगवान ही आए हैं ऐसा ख्याल करना ये भगवान की पूजा होती है दिल बदल जाने का नाम भगवान की पूजा है चीजों का नाम भगवान की पूजा नहीं है आप खूब प्रेम से भगवान की पूजा कीजिए एक महात्मा थे अपने अंगूठे को शंकर जी की मूर्ति बनाकर और उसी पर जल चढ़ाते थे ओ ब्रह्म शिवाय ओ ब्रह्म शिवाय यही उनकी यही उनकी पूजा हो जाती थी एक सज्जन थे उनके पास घर नहीं था छोटी सी चौकी थी उस पर अपने भगवान के चित्र को रख देते और एक सौ आठ परिक्रमा करते ये भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं तो भाई पूजा होती है भाव से सेवा से आप कितने भाव से कितनी सेवा से पूजा करते हैं ये आप देख लीजिए शांति शांति महर्षि आपकी सन्निधि में रहकर सुख का अनुभव तो होता है परंतु आप बुलाकर कभी डांटते नहीं उसका दुख होता है मन में भय बना हुआ है कि आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है कि नहीं महाराज की वह समाधान की अच्छी बात है हाँ हाँ डांट सुनना चाहेंगे तो मिलेगी डांट इस मुंह से नहीं मिलेगी दूसरे मुंह से मिलेगी अब आप देख रहे ना उस समय आप मेरे मुंह को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो अगर डांटते समय हमारे मुंह को पहचान लो कि वही महाराज है तब तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर बाबू जी महाराज जी कभी कभी आप किसी शिष्य से बोलते नहीं उसका क्या कारण होता है शिष्य लोग जितना जरूरी हो उतनी ही बात करें तब तो बात करने में मजा आता है उनके मन में बात करने की होती है वासना और उस वासना को पूरी करने के लिए वो अपने जीव को गुह को तो खराब करते ही हैं गुरु जी के जप को भी बंद कर देना चाहते हैं उनके ध्यान को भी बंद कर देना चाहते हैं अपनी बात उनसे करवाना चाहते हैं इसलिए चेले को बात करने का सहूर होना चाहिए अगर वो ठीक ठीक सहूर से बात करेगा तो गुरुजी उसकी बात का जवाब जरूर देंगे तो महाराष्ट्र आपकी एक पुस्तक में शांति गहरी शांति और पवित्रता का बहुत बार वर्णन है इस गहरी शांति और पवित्रता का स्वरूप यह है तो जीवन में कब मिलते हैं अपने सिवाय और किसी का चिंतन छूटता जाए सबसे गहरी चीज अपना आत्मा है सबको छोड़कर भाष मात्र को भी छोड़कर केवल निर्भाष अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना सबसे गहरा ध्यान और सबसे गहरी शांत शांति बीच में स्त्री का पुत्र का धन का दुश्मन का ध्यान आता रहता है और गहरी शांति आ जाए ऐसा कैसे हो सकता है आप एक बार सबकी ओर से ख्याल उठाकर केवल परमात्मा परमात्मा नहीं अपने सिवाय और किसी ने ख्याल लगाया अपने सिवाय माने अपना शरीर नहीं हड्डी नहीं मान शाम नहीं निष्ठा मंत्र नहीं ये अपना जो व्यक्तित्व है जात है ये जो एक मिट्टी का का है इसके संबंध की सारी चिंता छोड़ के एक क्षण बैठिए देखिए कैसा बढ़िया ध्यान होता है ध्यान की गहराई होती है बाहर की चीजों को छोड़ देने में उनसे ख्याल हटा लेते हैं सकता एकाग्रता क्या होता है